होगी तुम ही घटावचिन चेतन पहचान नहीं मारे हो पूर्वदेशावच्छिन्न घटावचन चेतन लेना पूर्वदेशावच्छिन्न घट तदवचिन जो चेतन उसी के साथ हम एकीभूत हुआ है संपूर्ण घटावचन चेतन के साथ हमारे मृत्युचिन चेतन एकीभूत हुआ ही नहीं है निराकरण कम हो गई वेदांत क्या कहता है प्रत्यवचिन चैतन्य प्रमाणावचिन चेतन प्रमेयावचिन चेतन प्रमात्रचिन चेतन की ऐक्यता ही ज्ञान गर्भ परिषद का कारण है ऐसे एग्जाम पूछेंगे फिर घट के भीतर क्या है बताओ इसलिए वेदांत पता चला कि जो पढ़े गलत है किसी ने गुरु पढ़ाता है तो एक मुझे अपने पात्र है तो ये विचार है ना कि वहां दर्शन भी लेना चाहिए पूर्व विषय चिन्हों पूर्व विषय या विषय विषयावचिन चेतन में विशेषण देना पड़ेगा यावत भी विषावचिन विषयावचिन चेतन के साथ एक हुआ है तावत भी विषयावचन विषय का ही प्रत्यक्ष होता है अन्य विषयावचन उस विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता है अगर हमारे अंदर जो भी ज्ञान है पर किसी भी विषय का पूरा ज्ञान कदापि नहीं बड़ा ईमान है हमारी कि जो हम विषय को जानते हैं सर्वावच्छेद विषय व्यावचन चैत्र के साथ ज्ञान यदि कोई कर सकता है तो वो ईश्वर ही कर सकता है आत्मा ही कर सकता है क्योंकि आत्मा ही सर्वावच्छेद व्याप्त है तुम्हारे वृत्ति सर्वावच्छेद व्याप्त हो नहीं सकती इसलिए आत्मस्वरूप विष्णु में आ गया और सर्वज्ञ सर्वे वो सर्वज्ञ हो जाता है वह सर्वज्ञ हो जाता है क्योंकि वह आत्मावच्छेद न सकल विषयों से व्याप्त होकर के सकल विषयों को सामान्य रूप में विशेष रूप में नहीं जान सकता तो जितने भी हम लक्षण करेंगे वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है तो व्यवहार मात्र के लिए लक्षण कर दिया गया क्योंकि वास्तविकता यही है जगत मिथ्या जो सृष्टि का लक्ष्य ही सृष्टि में ख्यात सिद्ध करने के लिए है अतएव सृष्टि में कहीं भी कुछ भी देखोगे वहाँ दोष अवश्य पाओगे एकमात्र निर्दोष ही है तो आप जान करके एक चीज चिंतन करोगे ना तो आपको पता चलेगा अरे यथार्थ तो सोचता हूँ मैं मैं जो देखा वो सब क्या देखा तूने क्या सच करे जो देखा वो झूठा है जो सुना वो झूठा है ये जब निश्चय होगा तभी आपको ज्ञान होगा कठिन काम क्योंकि ये अनादि कालीन अज्ञान के संस्कार से वासनाओं से आविष्ट होकर के यही इसके अंदर बैठा रहता है कि जो मैं देख रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ यही भाषा भाष्यकार कहते यहाँ पर कि ये जो सब आरोपित है अभिव्यक्ति निमित्त सती कि लोक का अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति निमित्त को होने करके लोक दृष्टि से जन्य विपरीत ज्ञान के आधार पर उदय और अष्टमय अहो और रात्र आदि का कर्तृत्व की अध्यारोप सविता में जैसा हो जाता है अत्यारोप भाव भवती यथा एवं एवं ईश्वर नित्य विज्ञान शक्ति रूप है इसी प्रकार से नित्य ज्ञान सुख रूपा जो ईश्वर में लोक ज्ञान अपोह सुख लोकों का जो ज्ञान का होना और ज्ञान का अपोह होना नष्ट हो जाना ज्ञान और सुख एवं स्मृति आदि निमित्त इत्यादि निमित्तों को होते हुए लोक में ही उत्पन्न जो विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यारोपितम विपरीत लक्षणतम सुख दुख का निष्ठा ये अध्यारोप कर लेता है विपरीत लक्षण को भी और सुख दुख का जीवन को भी ईश्वर में स्वतः न तो विपरीत लक्षण है न तो सुख दुखकारी है कुछ भी नहीं है एक और है तो सुखकारी दृष्टि अनुरूप अध्यारोपाख्या और सब जो अपने मतलब से करते आरोपी जो होता है मतलब से होता है जब मतलब आप जब किसी भी आप पहले आश्रम में पहुंचते हो कहीं भी आप जाते हो पहले आप क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया ये महात्मा जी बहुत बढ़िया यही आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा दो चार दिन बीतते ही कारण क्या है पहले आप चाहते हैं तो अंतर पूर्ण बड़ी श्रद्धा भक्ति आपको रहती है आप भी उसको मानते हैं फिर आप उसकी व्यवहार में खत्म होकर देखते हैं तो आप थोड़ा अपने आप को खींचते पीछे की ओर फिर आपकी दंडक की संख्या कम हो जाती है कुछ कुछ हो जाता है तो कहेगा ये मार्ग है फिर आप मान लो आपको अनुरूप महसूस नहीं हुआ आश्रम छोड़ के चले गए फिर सीधा आरोप पर जाता है आपको महात्मा गड़बड़ पूरा तो चोरी भी किया हमारे भक्त लड़की को छेड़ दिया भाग दिया मतलब से आरोप हुआ कि नहीं आपके ऊपर उसने अपने अंदर की कमी को नहीं देखा वो अपना कमी कभी नहीं देखा जो भी आता है उससे अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा शुरू में पूरा होता है तो उसको कहते बहुत अच्छा या अपेक्षा पूरा नहीं हो रहे थोड़ा कम हुआ कभी थोड़ा गड़बड़ जब अपेक्षा बिल्कुल नहीं होने लगा कभी पूरा ही इस अपेक्षा स्वदृष्टिया अध्यारोप होता है और क्यों को भी अपने विद्यमान अज्ञान का इसलिए कहा ना उस श्लोक में स्व अज्ञान अपने अज्ञान को जानने वाले कोई कोई आत्मदृष्टि रूपाध्यारोपाक्ष आत्मदृष्टि रूप अध्यारोपाक्ष कौन तो है कौन से तो स्पष्ट हो जाता है बाकी सब चीजें यहाँ यहाँ से फोन करके बात कर रहे हो वहाँ का तो आप बोल रहे है वहाँ भयंकर भय हो रही है और यहाँ पर आप कह रहे हम तो यहाँ पर सुना सकते यहाँ इतना भयंकर जरूरी है और वहाँ बहुत बढ़िया मौसम है बढ़िया बारिश हो रही है बड़ा आनंद आ रहा है और वह अपने व्यक्ति से बोल रहा है आप अपने व्यक्ति से यहाँ बोल रहे हैं बात अपने बोल ही बड़ा बोल रहे न में भूत है न वाक्य में उसको जैसे हमने हो रहे हैं देखा आसमान में जो है बादल है वो तब तक पानी पड़ रहा है और दो दिखाई रहा है और उसको आसमान ही दिखाई रहे दूसरी दूसरी और जो तीसरा जाता है यार दूसरी भूत है बदल बदल है और वो बेटी है एक बादल जो उसको दिखा हुआ कौन चाहिए क्या सूर्य के तीन भाग हो गया कहीं प्रकाशमान हो गया है वह प्रकाशमान केवल अक्षर कहीं का जो है विसर्जक टुकड़े हो गया बादल को उसने जो है विषेद दी बारिश हो करा दिया वो क्या कर कुछ नहीं जिसकी जैसी दिखाइया ये न सवित्र प्रकाशन रोशन जिस व्यक्ति को प्रकार नहीं दिखा दिया सपुरुष वो सभ्रांतिया वो गति भ्रांति से क्या जाता है आत्मविजन को देखती अपनी दृष्टि के अनुरूप अपने अनुभव के अनुरूप उसमें जो है अध्यात्म को आरोप कर दिया और क्या कहता है इधानी यह चिंता न प्रकाश की सत्य प्रकाश मित्र जबकि अन्यत्र प्रकाश का रहते हुए ही यह भ्रांति पुरुषा का भी यहाँ देखा वास्तव में सविता में प्रकाश का अभाव क्या प्रकाश का होना दोनों ही गलत है क्यों प्रकाश जब हृदय के स्वरूप है उसे कैसे कह देना है और वहां नहीं है कहीं तो है बोलना भी गलत है कहीं तो नहीं है बोलना भी गलत है कहीं वो वस्तु वास्तव में एकांश देश काल वस्तु का परिच्छेद के रहित नित्य सत्य प्रकाश होती है तो ऐसी वस्तु न्याय गलती कहोगे लेकिन देशावचन निधन कालावचन में का प्रकाशन हो रहा है और तब देशावचन कम कालावचन में जैसे का प्रकाश संभव नहीं हो रहा है अरे तो प्रकाश ज्ञान तो होगा क्या नहीं होगा सूर्य का नित्य प्रकाश हो गई है इसलिए वो हमारी अपनी भ्रांति से हम उस पर आरोप एवं यह इसी प्रकार से यहाँ पर भी बुद्धि के वृत्तियाँ उत्पन्न होती है विनाशाली हो सकती है और इस उत्तम विनाशशाली वृत्तियात्मक ज्ञान को लेकर जो आत्म कर आ रही है आत्मा में ज्ञान ओम अंदर में पैदा हो जाता है आत्मा में ज्ञान आत्मा में ज्ञान पैदा हो जाता है मंदिर से ऐसे नहीं नहीं ओ आत्मा जागरूक है किंतु उत्तम विनाशाली उसने कहा कि मैं नहीं आता आत्मा कुछ है ही नहीं वो तो भौतिक विकार भूतों का विकार है जैसे आपने पान खा लेते हो एक हरा है एक फसा है सफेद है हरे कथा है और तीनों चीज मिला दिया और आपने उसको तो चला दिया ये तो उसी प्रकार जो से पूरी फला विशुद्ध तांबूल के समान जो है पृथ्वी जल के करके चैतन्य नाम व्यक्ति आपको विकार है

फिर आप वो चित्र आपन जो प्राप्त किया हुआ है उसको देख करके ध्यान किया सुख दुखारी योग अत्यारोपकारी योग को लोगों ने अध्यारोप कर लिया है ऐसा कहना इस विषय में बिल्कुल उत्पन्न हो जाता है तत्वर्णाच अगला सूत्र गया और ये मैं खुद भगवान ने इसी इसमें में बता दिया अपने बारे में भगवान ने कहा मेरा आपको कुछ कैसा होता है तो स्वयं जीवानी पश्चिम ईश्वर थी स्मरण वही ईश्वर ने यह स्मरण किया स्मृति गीता जी ने बोला है क्या मत स्मृति ज्ञान मकोहन के पदयुक्त पापम पंद्रवा अध्याय पंद्रवा अध्याय का पहला पांचवें अध्याय का पंद्रवा अध्याय की भाई भगवान ने कह दिया मेरे से मेरे से क्या जा स्मृति ज्ञान और कभी मैं न किसी का पाप ग्रहण करता हूँ न किसी का ग्रहण करता हूँ अर्थात जो कहा जाता है लोग कहते अरे पापी है महात्मा है तो ये सारे आरोपी सब कुछ वास्तव में आरोपी नहीं है वास्तव वहां कुछ भी नित्य मुक्त एक करीब लोक विचार एकदम ईश्वर तो जिस प्रकार जो सविता है उस सविता में प्रकाश और प्रकाश भाव का आरोप किया जाता है उसी तो प्रकार से जित मुक्त उस एक ईश्वर में जो है ना संसार को लोक जन्य लोक लोक के में इन जीवों की अपनी अविद्या जन्य मुक्ति के द्वारा अध्यारोपित है शास्त्रादि सामान्य अद्भुतम असंसारितम चित्त और शास्त्रादि सामान्य सिद्धि यह निश्चय हो चुका है उसके अंदर संसार को नहीं है इसलिए हमारे कथन में कोई विरोध नहीं एक प्रत्येक जाना भी देगा प्रस्तुत इसलिए प्रत्येक को जाना ही को भी जो कथन जो करता है वो भी गलत ऐसा कथन करने वाले लोगों का विचार भी गलत है कुछ सावरा देशों से दूसरे समझना चाहिए प्रति शरीर शरीर का ज्ञान अलग है प्रति शरीर ज्ञान अलग है प्रति शरीर सुख अलग है प्रति शरीर में दुख अलग है ये सारी आप लोगों का का खुद को समस्या है ये आत्मा की समस्या नहीं है उस उपाधि के स्वाभाविक एक तारतम्य का पत्र गुण की तारतम्यता के कारण से इनमें ज्ञान स्वरूप इच्छा देश तत्व अंगत का व्यवहार होता है तो में आत्मा जो है उसके किसी शरीर के अंदर आत्मा ज्यादा आ गया है और किसी शरीर के अंदर आत्मा कम आ गया तीसरे को कम ज्ञान हो गया दुर्गा ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है आत्मा जो है उधर ज्यादा बड़ घट नहीं रहा इसे बड़बू की उपाधि लेकिन वो बड़बे साइज बनते हैं और साठ वाट है चालीस वाट भी दो सौ वाट भी सौ वाट भी इसमें भी गई ऊपर लिखा हुआ बहुत बार आप विश्वास करते हैं बन बंद तो कितनी बड़ी आप विश्वास करके चलते हो और शास्त्र में विश्वास नहीं करते आम आदमी कितना मूर्ख है समझ नहीं आता अब बताओ कि लौकिक वस्तुओं देख सकते जहाँ शत प्रतिशत खड़ाई बोल रहा है उस पर यह आम बंद कर देगा कवाट का जो कभी आम बंद ये नहीं देगा उसके अंदर का किलोमीटर जो है वो चालीस बार बहुत तो जानिए बहुत आपको जानते देखिए ना ये पहचानना इधर आम बंद कर दिया पकड़ी बन जाएगा और यहाँ साथ शास्त्र मानी है कह रहा है कैसे होगा हो सकता किसी की जरूरत करता वहां करते तो शादी कह रहा है जो चीज जैसे दिखाई देता है उसको वैसे मानना ही गलत क्योंकि आंखों ने कानों ने शरीर ने आज तक धोखा रूपये आया जो चीज आप जैसा देख रहे हो वो चीज वैसा कभी नहीं दिया ऐसी आज तक करते जिसकी पूरा देखा समझते हैं वैसे वो वस्तु होगी नहीं लोग झूठ बोल के अपने आप को बचा लेते ये वास्तविक सत्यता आप अपने माता से पूछोगे अपने पिता से पूछोगे ना उनके परिश्रम ये सच बोलने लग जाए बस कम उन्होंने क्या क्या लीला कराए हैं आज कहीं के पास कहा मुझे लेकिन आपको कुछ पता नहीं शांत कर करेंगे ये जो भी चीज आप देखते हैं जो भी चीज आप सुनते हैं उसमें निन्यानवे प्रतिशत झूठ होता है एक प्रतिशत सही और वो भी एक प्रतिशत ही क्या है वो अपने आप को हैं अधिष्ठान के सबसे तक आ जाता है उसके व्यक्ति ये तो है उसकी सत्ता नहीं बोल रहा है किसी मुझे बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ कर बस उतनी सत्ता ही है और जो भी बोला है वो सब विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा आपको मुझे कहता है ना मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही सच्चाई तो सही है और जो जो कुछ ही बोला है आप तर्क करके देखिए सब देखेंगे एक भी बात आगे सच बोलता है बोल रहा है वो तो सही सच्चाई कुछ और बाकी सब कुछ करें कोई व्यक्ति जो भी हम बोलते हैं वह काल से देश से और व्यक्ति की अपनी बुद्धि की क्षमता उसकी अपनी दृष्टि उसमें आरोपित है ठीक है राज्य दृष्टि के आरोप तो उसकी दृष्टि का हम स्वीकार बिल्कुल जरूरी है मुझे आपको तो कोई चीज अच्छी लगी कोई घड़ी है कोई चीज है आगे ये बहुत बढ़िया चीज है ऐसी चीज दुनिया में नहीं मिले यह पत्र से झूठ है फिर आपने बड़ी में आरोपित कर दिया ऐसी चीज दुनिया में कहीं नहीं ये सब सबको कर दिया तो आप इस फोटो को ऊपर तो वस्तु का स्वभाव नहीं है क्योंकि एक में जरूरी खराब हो गया इसमें तो वस्तु वस्तु का स्वभाव क्या है विनाशी होता है वस्तु का समय क्या है वह तारतम्य चीज है उससे उसको छूट रही है आम जिसको कुछ समझ रहे वो हमारे लिए हो सकता है अब ये दाल में आया चला हम हम जो अखबार का धंधा था वो यही भावना से आया था कहने के लिए तुम कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप कहते हैं इसका मतलब दो सेकंड हमने इसको तुम्हारे दृष्टिकोण से हो सकता है तुम्हारे अल्लाह तो में हो सकता है उदाहरण का फिर दृश्य देखना मजा आ रहा है तो ठीक है तुम्हारे लिए कुछ अधिकार है हमारे दृष्टिकोण से कुछ नहीं तो या तो वस्तु में उत्कृष्ट में दृष्टि नहीं कर वो तो आप भी अपनी दृष्टि का आरोप और जो कुछ भी आरोपित है और ध्यान किसी का क्या हो सकता न जानने पर वे अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए अपने अनुकूल व्यक्ति को आरोप इधर जो चीज को बदलनी है वो उसको अपना प्रतिकूल मान लिया तो उसे गुण दोष की कल्पना कर देगा बाकी सब ठीक है लेकिन खत्म पहला देश चालू ठीक है अनुकूलता और प्रतिकूलता वस्तु में है क्या हमारा आरोप है इधर से हर वस्तु में आकर समझ कर जाएंगे अपने आप तो वस्तु से वैराग्य आप आरोप करना छोड़ दीजिए फिर आपके लिए वस्तु क्या है तो वस्तु कभी कुछ करता नहीं चीज पड़ा है और उसमें हमने जो अपना अर्पण का प्रतियोगिता गुण दोष का जो आरोपण किया है उसके से आपने में फल बनी लगती है वस्तु तो वस्तु तो क्या फर्क पड़ता है इसके लिए श्रीमान जी बहुत दृष्टान अच्छा है in part for today's day. यहाँ सीढ़ी न घुसते ही सीढ़ी तो सीढ़ी के ऊपर दो तरफ ऊपर उनका आर्ग से निकला और अब झपट के खा गया उन्होंने कर क्या रखा था आप मालिक ने जो घंटी देगा बजाएंगे उसके ऊपर भौंकने के लिए आवाज आवाज तो दोनों चिंतित व्यक्ति अनेक प्रकार का संपादन बनती और प्रत्येक आवाज उसे घंटी बजाया और उसी दृष्टि व्यक्ति चली गई और आवाज भी बढ़िया तो उसे सोचा चिंता हम मेरे को कहीं महाराज जी परेशान हुए मालूम तो क्या है कि चलो कोई नहीं है हमको कहा जाए मुश्किल पड़ जाएगा और भगत ने जैसे होने के और मालिक आया भाई ना मैं क्या भाई भी खड़े अब तक वही जिससे पूछो कि क्या करें वो कहता है क्या तब घूम रहा था घूम रहा उनको डर लगा महाराज जी कार्य करते उनको भी रोकने सब कुछ वहां देखो हंड्रेड परसेंट आरोपी जबकि महाराज जान भी तो घर का बना हुआ उनको रोक रहा है उनको पूरे उनकी हानि हुई बात भावना नहीं असली बात असली तो वो जाने तो किसी जाना पड़ेगा और उनको यदि काट भी देता है तो उनको बताएंगे खुद आगे पढ़े तो पढ़ेगा दूसरों बातेगा अपनी हानि को लेकर के आरोपित करते इनको नहीं चाहते इसलिए हमें अतः इसको घेर का मार्ग मिलेगा धन्यवाद हाँ, कुछ नहीं है अच्छा तो बटन दबा के सुना देखो आसपास होगा तेरी दृष्टि ना पड़ी आवाज भी सुना गया तेरे को भ्रांति हो गई यही भ्रांति तो सब कुछ वहां पर आवाज अपनी प्रातः खुद कुत्ते का भोंगने का सुन उसमें प्रतियोगिता का भान नहीं और उसने वास्तव जीवित पुत्र का आरोप कर दिया तो इसलिए ये सारी चीजें जितनी भी होता है कहीं भी संस्कार कोई भी चीज आप नहीं आरोप वो वस्तु कभी खराब नहीं है वो वस्तु कभी तो पांच बहुत है तो पांच गोटी तो रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं है वो अपने आप में किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं है अपने आप में आप ऐसे अगर संबंध रखिएगा आप तुम्हें जिस प्रकार का देगा उसी प्रकार के आपके अंदर भावना बना तो दूसरा बंदा है जितना कितना है बहुत है उसके अंदर भर लगे तो सबकी भावना बनी क्यों से प्रतिकूल यही उसके अगर जीवित आरोप नहीं करता उसका है नहीं करता जो किसी भी चीज को हम भी मान रहे हैं इसलिए यहाँ पर बार बार बात कराया जाता है कि जो कुछ भी है वो हमारा अपना ही है ज्ञान आज जो भेद है वह हमारी तरफ है वास्तविक और आत्मा में एक न प्रत्येक ज्ञानादि वेद स्थिति प्रत्येक प्रत्येक शरीर उपाधि प्रत्येक शरीर उत्पादन को लेकर के भी भेद था वो भी नहीं हो सकता पता पदार्थिक भेद नहीं हो सकता सौक्ष्म चैतन्य सर्वगतवाद विशेष भेद है प्रभाव क्योंकि सौक्ष्म चैतन्य सर्वगत आय अविशेष ये शब्द एक फर्क भाव के कारण से भेद का आपका साधक कुछ भी नहीं है आप भेद को सिद्धि से भी करेंगे शरीराम सुगत आरम्भ तारक निदान चैतन्य तो आप जड़ में तो नहीं मान सकते आप चैतन्य तो ये विषय हुआ भी है हमारे साथ और क्या सूक्ष्मत्वाद योगतवाद कोई भी हेतु प्रयोग करेंगे ही हेतु से आम शरीर और उपाधि के अंदर अनुभव में होने वाला सुख दुख आदि को लेकर क्षेत्र में हेतु को भेद आपको बनी रख सकते वो तो उनकी अपने अपने उपाधि की बात है सबकी न्यूनता है यह नहीं रहता बुद्धि की न्यूनता या अधिकता ज्ञान की अल्पता या सर्वज्ञता जो भी चीज है तो उपाधि की अपनी है उपाधि की अपनी इसलिए कहते हैं जय है स्वभाव विक्रियावती विक्रियावान कहा जाएगा आत्मा को आत्मा मोक्षे विशेष अनभिगमान अभिगम और मोक्ष में भी कोई विशेष अंतर आदमी कर सकता मोक्ष जो मिलेगा तब कौन के से पूछो जो मोक्ष मिलेगा वैसा है पूर्ण प्रयास है पार्षद के सिवा कुछ भी नहीं है बोलेंगे आनंद ही आनंद अभी उसके हम बात है तीस प्रकार का दुख जिसके अंदर ये मन आपको संयोजन सुख भी है इक्कीस प्रकार के दुख के अंदर यह भी खत्म हो जाएगा और नित्य इधर ईश्वर को नित्य ज्ञानवान नित्य इच्छावान नित्य है सब निषेध हो जाएंगे तो मैंने कौन सा दर्शनकार ऐसा है जो कहे कि मोक्ष में कोई कार्य नहीं करे आपके मोक्ष में तो ज्यादा मिलेगा हमारे मोक्ष में कम मिलेगा ऐसा कोई दर्शनकारी जैसे नहीं मोक्ष के स्वरूप में अनिल क्षीरवत किसने कहे उसे नहीं कर सकते तो भाई तो जब पानी दूध में मिल जाता है भूल जाता है तो जीवा से परमात्मा नहीं भूल गया समझा नहीं हंस पक्षी है और दूध पानी गलत कर देता दूध पी जाता पानी छोड़ देता है ऐसे कोई ना कोई हो तो परमात्मा गलत कर रहे तो जीव को गलत कर डालेगा तो क्या हो जाएगा ना इसलिए वो चीजें हम स्वरूप में कर सकते हैं लेकिन मोक्ष को अमित को नहीं उसको युद्ध नहीं रहा नियम ठीक है तो युद्ध नहीं रहा तो उस युद्ध को खंडन करेंगे हम कहेंगे तुम्हारा जो मोक्ष तरह के मानते हो वो नित्य मोक्ष हो नहीं सकता है वह नित्य होगा लेकिन चाहोगे नित्य मोक्ष ये स्वरूप ये स्वरूप आपको छोड़ना कोई बजा विश्व का हो जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे इस बार जो है कोर्ट बटन बन जाएंगे या बिजोर बन जाएंगे या उसके कुंडक बन जाएंगे वहां जाके तो ये सब नहीं सावर जहां पर है पानी प्रवेश होगा इसलिए एकादश में भी स्वरूप का हम भ्रमण कर देंगे कोई ऐसा भी संज्ञान मोक्ष है तो मित्र हो या संभव अभी मोक्ष सभी को मान रहे हैं तो इस वित्त मोक्ष के स्वरूप में कथन कर रहे हैं तो अनित्व का कारक बन रहा है नित्व का कारक नहीं बनता स्वरूप को अनित्व वाला होने से उसका खंडन हम कर देंगे तो मोक्ष की नीति काम नहीं कर किसी को भी कोई नहीं था सब नित्य मोक्ष ही था विशेष अनुग्रह अभ्युगमे और स्वीकार करोगे कोई विशेष रूप में तो अनित्यता प्रति हो जाएगा अनित्य प्रसंगा अविद्या उपलब्ध सबसे सिद्धम एकत्वम तथा शरीर मनोबुद्ध विषय वेदना संतान से अहंगार संबंधात अज्ञान विज्ञान विज्ञान अन्य निमित्त आत्मतत्व विज्ञान विनिवृत्त अज्ञान बीत विच्छेद आत्मोक्ष संज्ञा विपरीय बंद संज्ञा अविद्यालब्धवाच्य अविद्यावान के भी योग की उपलब्धि होती है अविद्यावान पुरुष को क्या होता है ध्येय की उपलब्धि होती है विद्यावान को भेद आने के लिए अविद्यावत पुरुष से ध्येय की उपलब्धि का पक्ष इसलिए जहाँ अविद्या नष्ट हो जाएगी अनुपत्ति भेदान पक्ष में अविद्याच्छे सभी अंत जन्मती इसलिए यह बात जीव ग्रंथ सिद्ध हो गया निष्कर्ष कि शरीर विषय वेदना संतान से अहंकार संबंधात अज्ञान बीज इसलिए शरीर इंद्रिय मान बुद्धि इत्यादि श्रुति से और युक्ति से जो वाक्य का भेद सिद्ध किया है वो औपाधिक है बंद मोक्ष किसी बात व्यवस्था देने के लिए अब अगला एक वाक्य प्रयोग हो रहा है तस्माधिकता सूत्राग नहीं है ऐसे व्यक्त कुछ संभार एक तरह अभी तक का सारे बात को जितने सूत्र हितों से व्याख्यान किया है उसको संभार कर तस्माद शरीर इंद्रिय मनो विषय वेदना अवेदना संतान से ये जो धारा चल रही है शरीर की इंद्रिय की मन की बुद्धि की और विषय विज्ञान का जो धारा चल रहा है यह धारा अहंकार संबंध उत्पन्न अज्ञान है अज्ञान में आता ही क्या कैसा है बीज उपादन अज्ञान में आत्म संबंधी जो अविद्या वही है बीज अनुपान का ऐसा ये सारा का सारा क्या है संतान अज्ञान बीज से संतान अहंकार संबंधात नित्य विज्ञान अन्य निमित्त आगे से जोड़ दिया नित्य विज्ञान अन्य निमित्त नित्य विज्ञान को उपाधि उपाधि उपाधि निमित्त उपाधि निमित्त कारण जिसका अर्थात उपाधन कारण कहें अज्ञान निम्न कारण कौन है उपाधि को वो भी माया का पर अविद्या का ही कार्य उपाधि भी कहीं हमने जाया नहीं है वो भी अविद्या का ही कार्य है आदि आध्यात्म विज्ञान आदि और यदि अब आज तत्व की यथार्थ ज्ञान हो जाए उससे निवृत्त अज्ञान बीज वो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या लगा है अज्ञान रूपा उपाय कारण निषेध हो जाएगा यही आत्मा की मोक्ष क्रिया है और अज्ञान व्यक्ति जब तक नहीं है तब तक क्या है कहते हैं तब तक जन्म देती है इसलिए उपाधि स्वरूप अपेक्षा तुम यह हो उपाधि के स्वरूप की अपेक्षा से ही बंद और मोक्ष दोनों व्यवहार आत्मा में हो रहा है जैसे कविता में भ्रांति का द्वारा जो प्रकाश और प्रकाश था उधर तो बन मोक्ष दोनों ही व्यवहार उस आत्मा में तो आरोपित व्यवहार है मुक्त न कोई हुआ है न कोई होगा ये हाँ। जो है संसार में आज तक न कोई मुक्त हुआ है न कोई बंधन को प्राप्त होगा हुआ है न होगा जब है कोई वो होगा ना कोई तो नहीं बना होता कभी इसलिए वास्तव में प्रमुख बंधन में था और वैसे कि महाराज विश्वामित्र महाराज अमुक महर्षि अमुक महर्षि अमुक गुरु महाराज ये सब बंधन में थे अमुक हो गए यदि आप पहले मुक्त हो गए इसलिए आपने मान लिया हमारे गुरु महाराज कभी अज्ञानी थे हनुमान जी ना तो डिसाइड कर दिया इतना बड़ा भूल कर तो ब्रह्म जी हो गए इधर बोला इस बात से निर्माण महत्व के पर हमने ऐसे ही बोला तो लोग गए अध्यक्ष को सुनकर क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं कुछ समझ में आई गोहन तो शरीर का मरना ब्रह्म हो रहा है तो शरीर का मरना ब्रह्म क्या होना शरीर तो सबका मर रहा है तो फिर सब नहीं रही हाँ, अब बात तो कही तुम्हारा भी शरीर तो मर रहा है तुमने गंभीर क्यों अपने हाथ को नहीं बोलते हो सन्यासी नहीं है क्या ऐसे उसके मरने से वो अकल में नहीं जा सकता जो तो निदान समझाए वही समझ सकता है न निर्वाण है न निर्वाण है अपने भंडारा खाने के मान <laughs> कुछ बचत के लिए निर्वाण है निर्वाण तो किस बात में उस शरीर का जीवन निर्णय और शरीर के जीवन निर्णय को लेकर आपने गुरु को कोई डाल दिया गुरु था सर ब्रह्म को तो परम ब्रह्म जब गुरु साक्षात निरुपाधिक है उसमें न बन गए न मोक्ष न जन्म है न मरण शुद्ध ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऐसा है फिर गुरु मरेगा दुर्गा निर्वाण में से जो मना रहे थे नित्य मुक्त स्वरूप ही है वो इसलिए कहा जाता है नित्य मुक्त स्वरूप ही है हाँ नित्य मुक्त स्वरूप है इसलिए कहा जा रहा है मैंने ये, ये मान करके कि भाई अनित्य मुक्त नहीं होता होगा इसलिए शब्द प्रयोग केवल सापेक्ष प्रयोग है ना मुक्त शब्द ही गलत है कोई धन सब सापेक्ष बल श्रद्धा सापेक्ष इसीलिए पहले हमने कह दिया था आज परमेश्वरों ने जो भी शास्त्र भी के देखते जब तक आपने स्वरूपानुभव नहीं किया और जाके वो अन्य होने के बाद आप उसने वित्त कहोगे न बद कहोगे न आप अपने आप को कहोगे कि मैं मुक्त हो गया कई पूछते कि आप मुक्त हो गए हैं हमने पीछे कही उनकी मैंने कहा भाई ऐसे तो जूते क्यों बात जूता ही मार देते तो उनका खराब नहीं लगता और तुमने ऐसे बोल दिया क्या जूता मारने से भी खराब क्यों पर मैं बंधु कब हो गए तो पूछ रहे हो तो, तो इसलिए आपने पहले कभी हमको बंधन में देखा होगा तो इसे तो पूछ रहे हम तैयार हो गए कि नहीं हो क्या हुआ है परेशान हो गया घबरा गए तुमने कहा फंस गया घबराइए मत आप बताइए आपने कभी हमको बंधन में कहीं देखा नहीं का उन्हें तो नहीं थे तो ये आपने कैसे सजा बर्तन लेकिन ये प्रश्न ही मेरा तुम्हारा फिर जवाब कहाँ से दिया तो फिर उनको समझाएंगे अभी तो बोला था तो दूसरे की बात सुन के ही आते तो इसलिए कहते कि वे गौरव ये वित्त विज्ञान अन्य निमित्त जो उठाए वो क्या है स्वरूप स्वरूपापेक्षा हो उपाधि के स्वरूप की अपेक्षा को लेकर के उभयों में बंद मौजूद निवारण यहाँ अवाद ब्रह्म अवाद ऐतिहार्थ इति पूरा किला जगत स्थिति परिपाल विषय आत्मानुशासन देवेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थ विजित्य अदयशी असुरान ब्रह्मण इच्छा जीव देवान बहुत इतना है तो किसी जमाने में तीव्र सत्य संग्राम हो रहा था उसमें जगत की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा से यह आत्मा ने ये संकल्प किया कि विजय हो देवताओं की और उसी के संकल्प मात्र से विजय हो गया उसने किया कुछ नहीं किया कुछ तो छोड़ा नहीं कि वो विजय देवता मुझे दिलाने के लिए ब्रह्म आ गया और वो शत्रु छोड़ा और मार डाला दुर्गो और कुछ नहीं है इसलिए कहते हैं अनुशासनानुवर्तित भेदेभ्य भी भेदों में बचती है भेद बचित है तब कहते अनुशासन अनुवर्तित अनुशासन में भगवान का जो अनुशासन है वेद वेद रूपी अनुशासन के अनुवर्तन करने वाले होने के कारण से और वेद रूपी अनुशासन को उल्लंघन करने वाले होने के कारण रसुरों को हराया गया और देवताओं को जिता दिया गया और अर्थ देवता लोग और विजय के प्रार्थी थे उनका ही विजय रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए विजिज्ञ मैंने अधिनिश्चित उन्होंने विजय प्राप्त किया असुरान ब्रह्मण इच्छा मित्र विजय देवान असुरों के प्रति देवताओं का भी विषय था तो ब्रह्म का इच्छा मात्र इच्छा करी तो धर्म की स्थापना हो अतः धर्मानुकूल लोगों का विजय हो उसकी इच्छा इतनी है कि भाई अभी पहले होने का समय आया नहीं है और बीच में ही स्थिति बिगड़ी हुई है सृष्टि का इस सृष्टि की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा से उस ब्रह्म ने या उस ब्रह्म की इच्छा हुई इच्छा क्या हुई एक जो वेदानुवर्ती है उनका विजय होंगे ये उसके इच्छा मात्र हुआ उसी निमित्त से देवताओं को असुरों के प्रति विजय प्राप्त हो गया तस्य भ्रमण विजय देवा अमहीय उस ब्रह्म का विजय में देवताओं ने अपने आप को मेहमान समझने लग गए ये जारी लो लोग अपहारेशो असुरेशो पराणिकेशु देवा वृद्धि पूजा प्राप्त होगा का मतलब यज्ञानी लोक स्थिति का अपहार करने वाले जिन असुरों का पराजित होने पर इस दुनिया में क्या हुआ देवताओं के जयकार होने लगा और देवताओं को पृथ्वी पूजा का प्राप्त देवता लोग पृथ्वी को प्राप्त किए या पूजा को प्राप्त किए मिथ्या प्रतिप्राद एक ख्यापनार आम हो कनेक्शन था उन्होंने क्षण कर लिया हे अस्माकम में विजय अस्माकम महिमा थी ऐसे क्यों उन्होंने कर लिया करते वो उनकी मिथ्या वृत्ति ऐसे मिथ्या वृत्ति को अवश्य ही त्यागना चाहिए तो यही है एक रूप ख्यापनार्थम एक का ख्यापन करने के लिए इस एक है ये यही है इस बात को प्रकाशित करने के लिए आगे शोध कर दी है तो ऐसा त्याग का आगम जो है मिथ्याभिमान को त्यागना चाहिए इस बात की प्रतिपादन करने के लिए शुद्धि आरम्भ होती है ईश्वर निमित्त गए स्वसमृत निमित्त अस्माक में वही जीव अस्मा की मर महिमा के आत्म जी आदि श्रेय निमित्तम सर्वात्मा आत्मस्थम सर्वकल्याण तस्पदम ईश्वर में आसक्ति आत्मस्थिन अभूतुआ पिंड मात्राभिमान संभव ये के प्रति चक्र हो पिंड मात्र विशक्ति सर्वात्मेश्वरी आकांक्षा अवबोधेन हाथव्य स्थापनार्थ मिथ्या प्रतिष्ठा आमनाया ईश्वर निमित्त ईश्वर निमित्त मिले था और स्वस्मृति युक्त अपना समय जीवस्मृति वही महिमा की आत्मजयारी अपने सामर्थ्य का निमित्त से ही हमारे विजय हुआ ये हमारी महिमा है इस प्रकार से आत्मा जयादी श्रेय निमित्तम आत्मा के अंदर जय आदि श्रेय का निमित्त को उन लोगों ने कल्पना कर लिया देवता और जो सर्वात्मान आत्मस्तम जो सभी का आत्मस्वरूप तो वही है और उनके खुद के आत्मा में है सर्व प्रत्यय उपस्थित है सर्व कल्याण सभी कल्याण स्वरूप है ईश्वरम एवं आसक्ति अभुद्वा उस ईश्वर को ही आत्मा है वो हमारा भी आत्मा है सबका आत्म स्वरूप ही है इस बात को न जान करके पिंड मात्र अभिमान संभव पिंड मात्र का अभिमान करते हुए वे लोग जो यम मिथ्या प्रसंग को हो जो मिथ्याभिमान करके मिथ्या ज्ञान कर गए हैं सबसे कुल मात्र विषय न वह कुल मात्र विषय होने के कारण मिथ्या प्रत्येका संस्था करते है होने से सर्वात्म ईश्वरी अनुबोध सर्वोधीन सर्वात्म भूता उस ईश्वर के यथार्थ ज्ञान के द्वारा वेदांश मिथ्या प्रत्येक को आत्मविख्यापनार्थ हो त्यागना चाहिए इस बात का बोध कराने के लिए सब देशान इत्यादि को आरम्भ शुद्धि कर रही है ब्रह्म किला तेषा देवाना सायम अहंकार रूपम और ब्रह्म ने है इसलिए वह सबको जानेगा इसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं इसी प्रकाश में इस अहंकार गण्य अहम इंद्रिय इत्याधार मुक्ति का भी उसने आत्मा ने प्रकाशन किया है इसलिए आत्मा ने वह तो जानता है कि अहंकार निवृत्ति द्रव्यमान कर रहा है इसलिए ये मानव कायम मिथ्याहंकार रूपम यज्ञ विद्यावत ज्ञाता चरित्राभिमान साधना में इंद्रिय गोचरे नाथ दूरे साधक बनुआ इसको जान करके उनका अध्यापित सम्मान को नाश करने के शासन करने के लिए तब अनुजुभिक्षया शासन के द्वारा उनका अनुग्रह करने की उनका